रूपात्मक जो जगत दिख रहा है ना ये नाम रूपात्मक जगत की को तो सत्ता देने वाला एक तत्व है उसी से यह प्राणित हो रहा है उसी से सत्ता प्राप्त कर रहा है वह एक है वह अनेजत है वह कभी भी आज तक जो है वह कंपित हुआ ही नहीं वह अक्रिय है वहां तक अपनी दृष्टि ले जाओ ज्ञान कहता है ज्ञान का मार्ग कहता है भावना मत करो वहां तक अपनी दृष्टि को ले जाओ ईशावास्यमिदगुम सर्वम ये नाम रूपात्मक जो जगत दिखाई दे रहा है इसको ईश्वर ज्ञान से आच्छादित कर दो ये इंद्रिय ज्ञान से दिखाई दे रहा है आपको यह नेत्रों से मन से इंद्रिय ज्ञान से दिखाई दे रहा है परंतु उपनिषद से प्राप्त होने वाला एक ज्ञान आपके पास है और उपनिषद ज्ञान है आपकी बुद्धि में जो औपनिषद ज्ञान है वो बताता है कि ये एक सत्ता पर सारा का सारा भाषित हो रहा है उस सत्ता में जो है वह ज्ञान आपको प्रतिष्ठित करता है उस ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान को तुम आच्छादित कर दो उस ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान को आच्छादित करो ये दिख रहा है दिखता रहेगा इससे कोई मतलब नहीं परंतु जैसे क्या है आभूषण है और स्वर्ण का बना हुआ आभूषण है आभूषण में आपकी दृष्टि टिक जाए स्वर्ण में आपकी दृष्टि टिक जाए स्वर्ण में आपकी दृष्टि यदि टिक गई तो आभूषण का महत्व आपके चित्त से निकल जाए फिर तो जो है वो सुनान के पास आप गणपति ले जाए चाहे चूहा ले जाए जो चूहा चार तोले का है और गणपति दो तोले का है तो सुनार आपको दो तोले गणपति का दाम ज्यादा नहीं दे सकता है वो चार तोले जो है वह चूहे का दाम ही ज्यादा देगा उसकी दृष्टि स्वर्ण में टिकी हुई है और आपकी दृष्टि आकृति में टिकी हुई है आभूषण में दृष्टि टिकना एक आभूषण भी दिख रहा है उसको और सोना भी दिख रहा है पर उसकी बुद्धि सोने में टिकी हुई है आपको भी आभूषण दिख रहा है और सोना भी दिख रहा है पर आपकी दृष्टि आभूषण में टिकी इतना मात्र अंतर है दिख रहा है वो अब शास्त्र ही का ईशावासी में तक तो तुम सर्वम अब तक आप नाम रूपात्मक जगत में ये देवता है ये असुर है, है ये हमारे लिए हित है ये अहित है यह यह जो है त्याग करने योग्य है ये ग्रहण करने योग्य है यह कर्तव्य है ये अकर्तव्य है तमाम प्रकार की चित्रों को लेकर के हमारे अंदर जो भाव बना हुआ था आज सत्ता में पहुंचाने वाला उपनिषद का था ईशावास्य एक जो सत्ता तत्व है उसके द्वारा जो है ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जो जगत है इसको आच्छादित करना आच्छादित करना चाहिए मैंने वो ज्ञान से इसको बाधित कर देना ये भले ही दिखे पर इसका सत्यत्व तो नहीं रहना चाहिए इसको बाधित कर देना चाहिए ये उपनिषद प्रतिपादित मुख्य ज्ञान है का जो दिखाई दे रहा है इतने का इतने नहीं ये किंचित जगत या जगत ये माया भूमि में भेद करके प्रतीत होने वाला जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत हो सकता है वो सबकी सत्ता एक है दो सत्ता नहीं है एक ही सत्ता है वेदांत तो तभी समझ में आएगा जब आपको समझ में आ जाए कि एक ही सत्ता है और उसी सत्ता से सब सत्तावान हो रहे हैं क्योंकि सबके साथ सबके साथ अस्तित्व है ना मैं हूँ यह है घट है पट है है तो सभी के साथ जुट रहा है वो है एक ही है दो नहीं है एक ही सत्ता पर सारा का सारा जगत एक ही सत्ता अनंत सत्ता के रूप में मालूम हो रही है जिस समय अनंत सत्ता के रूप में मालूम हो रही है उस समय भी एक ही सत्ता है एक ही प्रकाश है इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से अनंत घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान इत्यादि के रूप में मालूम हो रहा है पर वो व्यक्ति तत्व ये ही है वो व्यक्ति समुद्र एक कही है वो सत्ता जो है वो व्यक्ति समुद्र रूप है उसमें घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान अच्छा ज्ञान खराब ज्ञान ये लहरें चल रही हैं पर जिस समय लहरें चल रही हैं उस समय भी वो व्यक्ति तत्व वैसे कल से इसलिए श्रुति उसके लिए कहती ईशावासी में सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत कहा कि ऐसी बात तो है जान तो लिया मैंने इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं मैंने बहुत बुद्धि लगाई ये बात बुद्धि में हमारे बैठ गई कि एक ही तत्व है और वही परमेश्वर तत्व है वही आत्म तत्व है और उसी से सभी सत्ता स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं इस बात में हमको शंका नहीं रही परोक्ष हमको ये ज्ञान पक्का है पर टिकता नहीं व्यवहार काल भी टिकता नहीं सबसे बड़ी बाधा यही है यहां तो समझ के जाते हैं मैं चेतन हूं मैं व्यापक हूं पर जब मैं व्यवहार करने लगता हूँ तो मैं तो शरीर में ही केंद्रित हो जाता है शरीर से बाहर तो मैं का अनुभव ही नहीं होने पाता क्या किया जाए इसके लिए कहा अभ्यास बिगड़ा हुआ है व्यवहार में अभ्यास बिगड़ा हुआ है इतने काल तक नाम रूप को सत्य मान करके शरीर को अपना स्वरूप मान करके तुमने व्यवहार किया है इसलिए व्यवहार बिगड़ा हुआ है तुमको जब बुद्धि में निश्चय हो गया तो अभ्यास की अपेक्षा है आप कहें कि बुद्धि में निश्चय होने पर अभ्यास की अपेक्षा क्यों है ज्ञान हो गया हो गया नहीं आदत बिगड़ी हुई है लोग संन्यास लेते ना महात्मा लोग संन्यास संस्कार होता है तो संन्यास संस्कार में क्या है यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग हो जाता है क्योंकि यज्ञोपवीत शिखा के आधार पर सारा कर्मकांड जो है छियानबे हजार जो वैदिक मंत्र हैं वो वैदिक मंत्रों का भार उसके ऊपर आता है उसका परित्याग हो जाता है तो जिस समय संन्यास हो जाता यज्ञोपवीत निकल गया शिखा भी निकल गई परंतु बहुत दिन तक ऐसा होता है कि हाथ यज्ञोपवीत को खोजता रहता है निद्रा से उठा लग शंका जाना है हाथ उस यज्ञोपवीत को खोजता है क्यों खोजता है उसको तो ज्ञान हो गया यज्ञोपवीत नहीं क्यों को आदत पड़ी आदत बिगड़ी हुई है इस आदत के लिए अभ्यास की जरूरत है इसलिए श्रुति कहती तेन तेन भूंजी था ये अहंता ममता जो है ना यही संसार संसार माना गया शास्त्र में इसका नाम संसार नहीं है ये जीव की सृष्टि का नाम संसार है जीव को दो सृष्टि बहुत बढ़िया करने आती है एक अहंता करने आता है एक ममता करने आता है शरीर उत्पन्न किया जो है परमेश्वर ने जीव ने कह दिया मैं बालक उत्पन्न किया परमेश्वर ने माता पिता को ज्ञान नहीं कि बालक का कब आंख बना कब कान बना पर बालक उत्पन्न होते कजे मेरा <laughs> अरे भाई तुम क्यों झूठ बोलते हो ऐसा झूठ मत बोला करो ये पहले समझो परमेश्वर का है इसको समझ करके बोलोगे तो तो ठीक है काम ठीक है, है? वह मुख्य रहेगा जैसे मुनीम ये समझ करके बोलता है मालिक का मकान है समझता है और व्यवहार में कह देता मेरा मकान ही है ऐसे यदि आपको समझ ठीक रख करके आप बोलेंगे तो किसी प्रकार का दोष नहीं है पर हमारी समझ गड़बड़ा जाती है ना उल्टे समझ से अभ्यास हो गया है इसलिए तेन त्यक्त न त्यागे न प्रसिद्धि न त्यागे न अहंता ममता का जो परित्याग है यही प्रसिद्ध त्याग है ये प्रसिद्ध त्याग है शास्त्र प्रसिद्ध त्याग है कि शरीर आदि में जो अहंता और तत्संबंध में जो ममत्व इसका जो परित्याग है इसके द्वारा जो है वह उस बुद्धि का पालन करना चाहिए कोई कहते हैं कि भुंजी था का प्रयोग तो भोग में है कालन में तो उसको परस्मय पदी होना चाहिए यद्यप वेद में ऐसा कोई नियम नहीं पर बहुत लोग जो है लौकिक व्याकरण को भी वहाँ लगाना चाहते हैं तो श्रुति उनके लिए भी कहती है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस हो इस त्याग के द्वारा अमृतत्व की जो प्राप्ति है यही भोग है आत्मक्रीड आत्मरति ही ये भोग है ये ज्ञानी का भोग है तो यदि जो है दिव्य भोग आपको प्राप्त करना है तो सर्वात्म दर्शन रूपी भोग प्राप्त करो वह कैसे प्राप्त होगा तेन त्यक्ते न प्रसिद्ध जो अहंता ममता का परित्याग है इस परित्याग के द्वारा प्राप्त कहते हैं अभ्यास तो मैं रोज करता हूँ इसका अभ्यास भी करता हूँ अहंता ममता का त्याग क्या त्याग का भी अभ्यास करता हूँ और बुद्धि में समझ लिया है कि ये शरीर में नहीं हूँ शरीर तो चिता पर पड़ा हुआ है ये समझ भी हमने लिया है ये जगत जो बनाया हुआ है वह मेरा नहीं है ये भी मेरे समझ में आ गया है और मैं इसका अभ्यास भी करता हूँ फिर भी काम नहीं बन रहा शांति नहीं मिल रही है क्या करें ऐसा प्रश्न लोग उत्तर देखते हैं मैं करता हूं पर शांति नहीं मिल रही है जैसे कोई वैद्य से कहे मैं आपकी दवा तो खा रहा हूं पर तो रोग निवृत्त नहीं हो रहा वैद्य की दृष्टि तुरंत कहीं जाएगी कि कहीं न कहीं गड़बड़ है परहेज ठीक नहीं हो रहा परहेज ठीक नहीं हो रहा है इसलिए श्रुति यहां कहती है माग्रधा जरूर कहीं तुम्हारा जो है वो गड़बड़ी है कहीं ना कहीं जगत का ऐश्वर्य से तुम्हारा चित्त जगत के ऐश्वर्य से प्रभावित है जगत के ऐश्वर्य से तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं प्रभावित है चाहे यहाँ से ब्रह्मलोक तक का हो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर है इसलिए माद्रधा इस जगत की अधिकांक्षा छोड़ दो जगत की अभिकांक्षा मत करो तुम अब कहा व्यवहार में तो कुछ हो ही जाता है अब रसगुल्ला सामने आ गया उसकी इच्छा न हो अब कुछ न कुछ व्यवहार में तो हो ही जाता है भले ही निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं पर जब स्वागत होने लगता है तो कुछ रस तो मिलते ही है यद्यप निष्काम कर्मानुष्ठान हम कर रहे हैं घोषित भी करते हैं पर स्वागत का रस तो मिलता है और आप उपनिषद आख्यान में देखेंगे कि वाणी जब इस रस को पकड़ती है तो तुरंत पापमा से विद्ध हो जाती है इसलिए उपनिषदों में प्राणोपासना बताया वो रस नहीं लेता कहीं है वो प्रसंग अलग यहाँ पर कभी माग्रधा ये जगत की अभिकांक्षा मत कर कहीं देखिए कर्तव्य कर्म का निषेध नहीं कर रही है जो हो रहा है श्रुति उसका निषेध नहीं कर रही है अभिकांक्षा कहाँ रहती है आपके अंदर रहती है वो वासना आपके अंदर है माग्र था कहते भाई बात तो ठीक है मैं भी मैं भी जानता हूं कि जो है नहीं करनी चाहिए अभिकांक्षा फिर भी आ जाती है तो श्रुति कहती है कश्य शुद्धनम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले ये जगत का धन किसका हुआ है यदि जगत का ऐश्वर्य तुम्हारे साथ सदा रह सके तो तुमको छूट है अभिकांक्षा करने श्रुति ऐसी नहीं है अपने यहाँ का शास्त्र लादने वाली चीज नहीं है यदि जगत का कोई पदार्थ आपके साथ सदा रह सकता है तो आप उसकी अभिकांक्षा कर सकते हैं पर यदि आपके साथ रहेगा ही नहीं तो उसकी अभिकांक्षा करोगे तो दुख पाओगे कि नहीं पाओगे जिसकी अभिकांक्षा किया हुआ हाथ से निकल गया तो दुखी होने का मार्ग श्रुति भगवती माता कैसे बता सकती है इसलिए श्रुति कहती माग्रध ये जगत की अभिकांक्षा मत कर क्यों धनम कश्य स्विद ये जगत का धन किसका हुआ है किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा कुछ तो अपनी बुद्धि लगाओ किसी के साथ गया हो तो तुम्हारे साथ भी जाएगा यदि किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं और जो चीज तुम्हारी हो ही नहीं सकती है उसकी लालच क्यों करते हो दुख पाने के लिए उसकी लालच का नाम ही दुख है इस प्रथम मंत्र के द्वारा उत्तम अधिकारी के लिए पहले उपदेश कर दिया कि तुमको क्या अभ्यास करना चाहिए द्वितीय उपदेश कर दिया ज्ञान ऐसा निश्चय होने के बाद भी अभ्यास क्यों करना चाहिए तीसरी बात बता दिया कि यदि जो है अभ्यास करने पर भी हमको <clears throat> शांति नहीं मिल रही है हम अपने तत्व तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है कहीं न कहीं हमारे बुद्धि जगत के महत्व को पकड़ करके रखी है इसलिए उसको छोड़ दो और छोड़ भी क्यों दो क्योंकि जगत की वस्तु किसी को नहीं ये उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश हो गया एक मार्ग हो गया ज्ञान योगे न नाम इसका निरूपण हो गया पूरा प्रोक्ता मयानक है सृष्टि इसको बताती है श्रुति समय मेरा हो गया है और स्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों मंत्रों पर थोड़ा प्रकाश तो पढ़नी चाहिए तो थोड़ा समय जो है आप और भी इसलिए इसका भी थोड़ा संक्षेप बात में कह दूंगा विवरण तो चलता रहेगा अभी दो दिन और चलेगा सर ये दूसरे मार्ग का भी निर्देश कर देना है कुरन कर्माणी गुम समा एवं प्रेनान्य थे न कर्म लिप्यते नरे अब जब साधक कहता है कि ये सारी बात मैं समझता हूं पर जगत की अविकांक्षा तो जाति नहीं है तो कहा जब जाति नहीं है तो फिर तुमको ये ज्ञान पचेगा नहीं तुमको दूसरी दवा देनी पड़ेगी <laughs> तुम्हारे लिए दूसरी दवा देनी पड़ेगी क्योंकि अभी जगत की अभिकांक्षा तुमको है यहाँ पर नरे उदार दिया कोई नरे तुम शरीराभिमानी हो नर शरीराभिमान करने वाले हो और जब तक इस अभिमान को लेकर के तुम चलोगे तब तक व्यापक ब्रह्म होना तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो तुम सोचेगो मैं ही नहीं रहूंगा बहुत लोगों को यही भय लगता है ब्रह्म हो गया तब तो मैं ही नहीं रहूंगा नदी यदि सोचे मैं समुद्र में पहुंच गई तो मैं ही नहीं रहूंगी तब तो फिर जो है वह समुद्र में पहुंच नहीं सकती है वह अपने अस्तित्व को खोने के लिए नदी को समुद्र में पहुंचना पड़ेगा पर क्या उसने अस्तित्व खो दिया नहीं सीमित अस्तित्व को छोड़ करके व्यापक अस्तित्व को प्राप्त किया अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त किया उसने छोड़ा कहा खोया कहा वास्तविक जो उसका व्यापक अस्तित्व था उस अस्तित्व को उसने प्राप्त कर लिया और सारी समस्या परिचिनता की उसकी समाप्त हो इसलिए कहते भाई ठीक है तुम मनुष्य हो हाँ, मनुष्य हो नराभिमान अपने को है मैं कुछ अर्जन करना चाहता हूँ पर यह संसार से छूटना भी चाहता हूँ मैंने देखा संसार में बहुत दुख होता है संसार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ पर दुख नहीं होना चाहिए संसार में परिवार को छोड़ तो नहीं सकता है पर परिवार में रह करके दुखी नहीं होना चाहता ये समस्या है तो क्या इसके लिए कोई उपाय है श्रुति कहती श्रुति तो माता है उसके पास सबके लिए उपाय अरे अच्छा कोई बात नहीं पर एक बात मानोगे तुम एक बात तुमको माननी पड़ेगी जगत में प्रवृत्ति का दो हेतु बनता है पहले मैंने बता दिया एक जो है कर्तव्य में प्रवृत्त होता है व्यक्ति और एक जो है स्वार्थ बस प्रवृत्त होता है जगत में आप देखेंगे कि दोनों का एक योग बना हुआ है वो योग कैसे बना हुआ है एक अध्यापक अध्यापन करता है उसको दो हजार रुपया मिलता है फल के साथ संबंध हो गया कि नहीं अध्यापन का फल के साथ संबंध हो गया पर उसी के साथ एक कर्तव्य उसका बन रहा है वह अध्यापक है तो एक कर्तव्य बन रहा है कर्तव्य से बद रहा है अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपना पूरा समय लगा करके विद्यार्थी के जीवन को विकसित करना अब ये विचार करके देखिए कि यदि वह उसका जीवन फल तंत्र हो जाए अर्थ तंत्र हो जाए तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएगा क्योंकि सोचेगा जितने दिन जाने से अपने रुपए में बाधा ना पड़े उतने दिन तो मैं जाऊं और जितना पढ़ाने से रुपया कटे नहीं उतना पढ़ाऊं ज्यादा क्यों तो पढ़ाऊ ज्यादा पढ़ाना होगा तो ट्यूशन पढ़ाएंगे वापस वहां क्यों तो पढ़ेंगे श्रुति आपको बताती है देखो आपके जीवन में ये साथ में है अब आप संसार भूमिका में आ गए हैं पर आपके लिए साधन बताया जा रहा है कि ये है पर आप कैसे कर्म करो कुरवन में वे कर्माणी देती अर्थतंत्र मत बनो कर्तव्य तंत्र बन जाओ बिना अर्थ के जगत का व्यवहार नहीं चलेगा पर आप अपने जीवन की परीक्षा करिए कि आपका जीवन अर्थतंत्र है कि कर्तव्य तंत्र है हमारे यहाँ तो कर्तव्य की प्रधानता आज तो फल फल की जो है फल मांगने का बड़ा होड़ चल रहा है हम्म? पर कोई आंदोलन कर्तव्य का नहीं चला रहा है फल का आंदोलन तो बड़ी तीव्रता से चल रहा है इसको इतना मिलता है मुझे मिलना चाहिए हम्म? पर कर्तव्य का आंदोलन कोई नहीं चला रहा है और स्थिति इसीलिए सारी की सारी बिगड़ती जा रही है आंदोलन तो कर्तव्य का चलना चाहिए हमारा जीवन कर्तव्य प्रधान होना चाहिए श्रुति ने कहा यह मार्ग है तुम्हारे लिए संसार सागर से निकालने के लिए मार्ग है कुरवन्नी ने वे कर्माणी एवकार दिया कर्तव्य बुद्धा कुरवन करते हुए ही कर्म करते हुए ही कर्म छोड़ करके जंगल में बैठने से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है तुम जगत के दुख से भयभीत होकर के जंगल में जाओगे तो इससे तुम्हारा जो है वह ज्ञान को पचाने की शक्ति नहीं आएगी गीता तो कह देती है क्या कि नैष्कर्म प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कर्तव्य करना पड़ेगा कर्तव्य से निष्कर्म की प्राप्ति आप करेंगे कर्म छोड़ने से निष्कर्म की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती वो उसका आधार यही श्रुति है कुरवन्नी भी कर्माणी दीदी विशिक्षत किन समा तुम पूरे आयु जियो भाई कोई चिंता नहीं मरने की जरूरत नहीं दुख से भयभीत होकर के संसार से भयभीत होकर के फांसी लगाने की जरूरत नहीं है आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है अरे तुम्हारे पास साधन है साधन जब तक रहे तब तक हार मानने की जरूरत नहीं है पशु शरीर में तो तुम हार माने ही हो और देवता शरीर में भी हार मान जाओगे और ऐसा शरीर मिला है जो साधन शरीर है इसमें हार मानने के लिए कहीं आवश्यकता नहीं इसलिए जो है अपने शास्त्र के अनुसार आत्महत्या का कोई अस्तित्व नहीं है इस साधन को छोड़ करके कैसे प्राप्त करोगे मृत्यु पर्यंत पुरुषार्थ कर सकता है व्यक्ति क्योंकि हमारे पास साधन है साधन है तब तक साध्य के तरफ हम बढ़ सकते हैं कितना भी विघ्न आवे तो भी बढ़ सकते हैं कुरेह कर्माणी दीदी विशेष छत सुना सौ वर्ष जियो कोई बात नहीं पर आलसी बन करके मत जीना निराश बन करके मत जीना निर्णय करो कि हमारे पास साधन है इसका हम शास्त्र के अनुसार सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग यही है कुरवन में वे कर्माणी दीदी क्या बात तो ठीक है कर्तव्य दृष्टि से कर्म करना चाहिए पर जगत में प्रधानता तो उसी की हो जाती है ना वासना से भरा हुआ चित्त है इसलिए जो है फलाभिसंधि सामने आती है उसी से प्रवृत्ति हो जाती है कर्तव्य भूल जाता है तब माता डांटती है बालक को जैसे वैद्य डांटता है रोगी को डांटता है जोर से डांटता है कभी जो है युक्ति से डांटता है एक वैद्य के पास एक रोगी गया वैद्य ने दवा दे दी पर वैद्य जानता था इसका रोग इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यह पथ्य का पालन नहीं करता और मैंने कह दिया है पर पथ्य का पालन करेगा नहीं तो नहीं करेगा तो कोई जुक्ति लगानी चाहिए तो वैद्य ने कहा भाई देखो देख हमारा हमारी दवा तुम ले जाओ और ये ये पथ्य है पथ्य का पालन करना और एक बात और समझते हुए जाओ कहा क्या कहा हमारे पथ्य का पालन पूर्वक यदि दवा खाओगे तो तुम्हारा रोग निवृत्त हो जाएगा उसने कहा मान लीजिए पथ्य पालन न हो तो तथ्य पालन न हो तो क्या होगा का फिर तो तीन लाभ तुमको होगा ऐसे तो खाली रोग निवृत्त होगा पर पथ्य पालन नहीं करोगे तो तीन लाभ होगा अब उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है तीन लाभ होगा कहा तीन लाभ कौन कौन सा होगा कहा एक लाभ तो ये होगा तुमको कि तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी अच्छा और दूसरा लाभ क्या होगा कहा दूसरा लाभ ये होगा कुत्ता नहीं काटेगा तुमको और कहा तीसरा लाभ क्या होगा कहा तीसरा लाभ ये होगा कि तुम बुढ़े नहीं होगे उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा लाभ वो जाने को तैयार हुआ पर वैद्य ने फिर बुला लिया कहा तुम समझे कहा समझ में तो बात नहीं आई पर लाभ आपने बताया कहा अब समझ लो अब समझ लो जब पथ्य का पालन नहीं करोगे तो रात भर खांसी आएगी तो चोर समझेगा जग रहा है तो तुम्हारे घर में चोरी नहीं होती चोरी नहीं होगी और तुम बिना डंडे के चल नहीं सकते तो बाहर निकलोगे तो डंडा लेकर के निकलोगे तो कुत्ता देखेगा इसके हाथ में डंडा है तो कुत्ता काटेगा नहीं एक लाभ होगा और कहा कि मैं बुढ़ा बुढ़ा नहीं होगा कहीं बिल्कुल ठीक है जवानी में मर जाओगे तो बुढ़े कैसे यदि जवानी में मर गए तो बुढ़े कैसे हो गए तो ऐसे लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए श्रुति तो कह देती है ठीक बात कि देखो अब बता दिया अब नन नच मत करो उसमें कर्माणी दिजी विशेष एवं तो नान्य थे न कर्म लिप्यते नरे तो नरे कर्म न लिप्यते तुम कर्म करते हुए भी कर्म तुमको पकड़ न पावे इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है कर्म तुम छोड़ना नहीं चाहते संसार की अभी वासना भी बनी है अब ऐसी स्थिति में तुम चाहते हो कर्म तुमको पकड़े भी नहीं मगर है किसी तालाब में उसमें तुम तैरना भी चाहते हो और ये भी चाहते हो मगर पकड़े भी नहीं तो एक ही उपाय है दूसरा कोई उपाय नहीं है वो उपाय यही है कुर्बन ने वे कर्माणी दी विषय ये बड़े महत्व की बात है आज इस चीज को विश्व स्वीकार कर लेता है तो सारे विश्व का वैभव ही बदल जाता है दृष्टि ही बदल जाती है प्रत्येक कारखाना प्रत्येक पाठशाला प्रत्येक का स्थान दिव्य हो जाता है हमारे जीवन में कर्तव्य की प्रधानता वो फल को गौड़ रखो वो तो आएगा उसकी चिंता क्यों करते हो कर्तव्य प्रधान होने के बाद कोई फैक्ट्री घाटा में नहीं चल सकती यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य प्रधान हो जाए तो फैक्ट्री घाटा में कैसी चलेगी अभी अबोजगढ़ में वहां पर देखा कर्तव्य प्रधान वहां पर जीवन हुआ तो आज वो जो भील बालक थे आज मध्य प्रदेश में टाप कर रहे हैं ऐसा विकास इतनी जल्दी वहां पर कैसे हुआ कर्तव्य कर्तव्य यहाँ कर्तव्य छोड़ करके कोई बात है ही नहीं बाकी चीज तो अपने आप हो रही है बाकी चीज तो अपने आप हो रही है पर जो लोग वहां पर लगे वह शुद्ध कर्तव्य बुद्धि से लगे कर्म में बड़ी भारी विलक्षणता है और इसकी परीक्षा शास्त्र के अनुसार आप नहीं करेंगे तो जगह जगह आपको धोखा होगा आज ईसाई मिशनरी काम कर रही है वहां भी काम कर रही थी कहा कमजोरी थी क्यों आज दब गई हो आज ईसाई मिश्री काम कर रही है सुंदर जो है स्कूल बना रही है हॉस्पिटल खोल रही है आप जंगल में जाकर के सेवा नहीं कर सकते ऐसी सेवा कर रही है आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते पर जब आप भारतीय परंपरा से कर्म को कसेंगे तो आप पूछेंगे क्यों कर रही है क्या कर रही है ये नहीं क्यों कर रही है क्या ईसाई बनाने के लिए कर रही है प्रश्न ये है यदि ईसाई बनाने के लिए नहीं कर रही है केवल मानव कर्तव्य से सेवा कर रही है तो कोई आच नहीं जाती परंतु यदि ईसाई बनाने के लिए कर रही है तो ये बाहर से दिखने वाले बड़े सुंदर कर्म जो हैं वह कलंकित हो जाए उसका सारा का सारा सौंदर्य लुप्त हो जाता है फिर तो धोखा दे रही है आपको हिंदू समाज को धोखा दे रही है क्योंकि उसका दृष्टिकोण गलत है ये जो श्रुति की बात है ये श्रुति की बात संपूर्ण दोषों का निराकरण करने वाली है कुरन्नेवेह कर्माणी जिजी विशिक्षत गुम समा ये एक ऐसी दवा है ऐसी दवा है कि जो आपको जगत से उठा करके मोक्ष तक पहुंचाने में सकता आज हमारे जीवन में कर्तव्य की प्रधानता होनी चाहिए आज हमारा ऐसा जीवन हो गया कि माता पिता की भी सेवा हम कर्तव्य से नहीं कर पाते हैं कुछ रखे हैं क्या कितना जो है दृष्टिकोण हमारा दुष्ट प्रत्येक कर्म के साथ स्वार्थ हमारे अंदर आ गया कर्तव्य प्रधान हमारा जीवन नहीं रहा इसी को गीता इसी को उपनिषद एकमात्र उपाय बताती है कि जिस उपाय को लेकर के आप जो है जहां हैं वहीं से ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे इसलिए श्रुति कहती कुरुन कुरन ने वे कर्माणी जिजी विषय छत समा एवं त्वयि न अन्यथा न कर्म लिप्यते तो नरे कर्म न लिप्यते तुम नराभिमानी हो तुम कर्तृत्व को नहीं छोड़ना चाहते हो है? तुम इसका अभिमान नहीं छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं पर कर्तव्य प्रधान होकर के जीवन जियो यह एक ऐसा उपाय है कि कर्म तुमको पकड़ नहीं पाएगा कर्म पकड़ लेता है जन्म मरण के चक्र में छोड़ देता है पर ऐसा ये शास्त्र उपाय बताता है अब आप विचार करके देखिए क्या यह ब्राह्मण के लिए ये बात कही गई है क्षत्रिय के लिए बात कही गई है या विश्व मात्र के लिए ये सिद्धांत है ये उपनिष्ठ सिद्धांत सार्वभौम सिद्धांत है मानव मात्र के लिए सिद्धांत है उसका जीवन कर्तव्य प्रधान जिस दिन बन जाएगा उस दिन उसकी उन्नति को अभ्युदय निश्रेयस को कोई रोक नहीं सकता पर यदि हमारा जीवन अर्थ प्रधान बना रहेगा हमारे जीवन में कर्तव्य की प्रधानता नहीं आई तो कोई भी उपाय नहीं है कि जो हमको शांति के मार्ग में ले जा सके इसलिए श्रुति ने कह दिया कि न अन्यथा न अस्त दूसरा कोई उपाय नहीं ये श्रुति ने बता दिया यही दो इसी दो का विवरण सारा का सारा शास्त्र है पुराण में एक चीज और बढ़ती है तेजी से जिसकी चर्चा तो हम पुराण के समय करेंगे पर यहाँ आपको एक वाक्य का संकेत मात्र कर देना चाहते हैं और यही इसको समाप्त करना चाहते हैं कि जब हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और हमारा जीवन कर्तव्य प्रधान हो जाता है और उस कर्तव्य को हम ईश्वर से जोड़ देते हैं कर्तव्य को जिस समय हम ईश्वर से जोड़ देते हैं उस समय हमारे जीवन में बड़ी भारी विलक्षणता है आप देखिए एक व्यक्ति से कहा जाता है अरे भाई तुम्हारे पास धन है ये गरीब है, है? उस इस धन से उस गरीब की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है उसको बात समझ में आ जाती है और अपने धन का उपयोग करता है और दूसरा एक संत पहुंचता है उसके बाद कहता क्या करते हो कहा भाई धन दिया है भगवान ने तो हमारा कर्तव्य है कि गरीब की सेवा करना इसको इकट्ठा रख करके मैं क्या करूंगा कोई शरीर के साथ तो जाने वाला नहीं है इसका सदुपयोग कर रहा हूँ कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ उन्होंने कहा अरे तुम क्या कह रहे हो वो गरीब बन करके भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है तुम के भगवान के दिए हुए संपत्ति के द्वारा उसका पूजन कर लो दोनों में क्या अंतर हुआ दोनों में बाहर से अंतर नहीं है पर अंदर से बहुत बड़ा अंतर है भगवान खड़ा है भिख मंगा बन करके आप एक रूखी रोटी भी लेकर दौड़ेंगे तो आप सावधान हो जाएंगे गुड़ रख लो कुछ अचार रख लो कुछ भगवान को कैसे दूसरे भगवत तत्व को बहुत लोग ये समझते हैं कि हम कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं भगवान को मानने की क्या आवश्यकता भगवान को मानने की इसलिए आवश्यकता है भगवान से संबंधित होने पर आपके अंदर अहंता नहीं बनेगी इसके पहले क्या थे आप वो वो गरीब था आप उसकी आप उसको जो है वह धन दे रहे हैं आपके अंदर एक अहंता विकसित हो रही है कि मैं इतने लोगों को खिला रहा हूँ इतनी सेवा कर रहा हूँ इस अहंता को आप कैसे काट सकते हैं भगवान से संबंधित जब आपका जीवन होगा ये अहंता अपने आप गल जाएगी इसीलिए गीता में कहा स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि सिद्धि सिद्धि बिंदती मानव अरे मातृदेहो भव पितृदेवो भव इसमें यही रहस्य है देखो आपके महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है नामदेव ने जो है वह माता पिता अपने जो है वह क्या नाम कुंडली कुंडली का अपने माता पिता को महादेव पार्वती मान करके सेवा किया तो विठल को आना पड़ा माता पिता की सेवा कर्तव्य है इतना नहीं माता पिता को उसने महादेव पार्वती मान करके सेवा किया जब महादेव पार्वती मान करके सेवा किया तो फिर विष्णु को आना पड़ा वहां पर इतनी ताकत है भगवान से संबंध कर देने पर स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि बिंदती मानवा इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध करिए आप लोगों को घर में प्रत्येक घर में अनुभव है एक स्त्री शरीर है उसका पिता आ जाता है उसको अपनी लड़की दिखाई देती है उसका पति आ जाता है उसको अपनी पत्नी दिखाई देती है उसी शरीर में उसका भाई आ जाता है उसको बहन दिखाई देती है उसी शरीर में शरीर एक है कि दो है एक कामी पुरुष आ जाता है उसको उसमें सुंदरता दिखाई देती है एक योगी आ जाता है उसको हर मांस का पुंज दिखाई देता है ये ये कहीं बाघ आ जाए तो उसको भोजन दिखाई देता है एक है कि दो है पर जैसी दृष्टि आती है उसी प्रकार का जीवन में अनुभव होता है दूसरे प्रकार का अनुभव नहीं होता है आपकी दृष्टि बदल जाए शास्त्र आपको दृष्टि देता है शास्त्र दृष्टि से आप कर्म करेंगे आप ऊपर उठ जाएंगे शास्त्र दृष्टि को छोड़ करके मनमानी कर्म करेंगे आप नीचे चले जाएंगे शास्त्र ने आपको दृष्टि दी ज्ञान और कर्म का झगड़ा मत करिए अपने हृदय को देखिए कि हमारी योग्यता कहाँ है हम कहाँ हैं वहां से ही हमको साधन पकड़ना पड़ेगा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति परम पूज्य श्री रामानंद सरस्वती मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर द्वारा ईशा वास्तुपनिषद पर त्रिदिवसीय प्रवचन सत्र स्थान श्री रामकृष्ण मठ धंतोली नागपुर प्रस्तुत है दिनांक 8 मार्च उन्नीस का द्वितीय प्रवचन समस्त सृष्टि को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला ब्रह्म तत्व भगवत स्वरूप और संत वृंद एवं आत्म स्वरूप श्रोत वृंद शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्र भाग का ईसावासी उपनिषद जिसका विचार चल रहा था जिसके ऋषि हैं दध्यांग थर्वण ऋषि प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता है क्योंकि मंत्र बुद्धिकृत नहीं होता है किसी ने अपने बुद्धि के प्रभाव से किसी मंत्र का निर्माण किया ऐसा भारतीय परंपरा में नहीं है ऋषि तप करते हैं समाधि में उनको साक्षात्कार होता है तत्व के साक्षात्कार के साथ साथ उस मंत्र के तत्व के साक्षात्कार के साथ साथ उसके ढांचे का भी साक्षात्कार इसीलिए जो है ऋषयो मंत्र दृष्टा रह न तो करता रह ऋषि जो है मंत्र दृष्टा है मंत्र करता नहीं है इस बात को समझने में बुद्धिवादी व्यक्ति को बहुत कठिनाई पड़ती है क्योंकि उसको समाज तत्व का ज्ञान नहीं है वो समाज में स्थित होकर के किसी विशिष्ट तत्व का सामान्य तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है इसीलिए उसके बुद्धि में ये बात नहीं समझ में आती कि ऋषियों ने कैसे मंत्र का उसी अक्षर के तत्व रूप में साक्षात्कार कैसे किया होगा पर है ऐसी ही लोक में भी देखा जाता है एक तत्व तो होता है विद्युत तत्व का किसी ने साक्षात्कार किया होगा और साक्षात करने के बाद एक ढांचा ऐसा बनाया गया कि जिस ढांचे में आज हम विद्युत का उपयोग कर रहे हैं यदि ढांचा न हो विद्युत तो पहले से ही है उसका साक्षात्कार करना उसके लिए एक ढांचा बनाना उस ढांचे को लेकर के फिर उसका उपयोग होता है प्रत्येक मंत्र का एक छंद होता है ये छंद ही उसका ढांचा है जिसके अंदर वो मंत्र शक्ति अनुसूत होती है और वह अनुसूत होकर के हमारे उपयोग में आने की योग्य बनती है इसलिए अपने यहाँ किसी भी जो है वह मंत्र के जप के समय या किसी भी वैदिक मंत्र के पाठ के समय ऋषि का हम अपने मस्तक में स्मरण करते हैं क्योंकि ऋषि मंत्र का दृष्टा है जब हम उस ऋषि का स्मरण करते हैं अपने सिरोभाग में उसका स्थान सर्वोच्च है सिरोभाग में हम उसका स्मरण करते हैं तो कृपा शक्ति जो है वह परंपरा से हमारे अंदर प्रविष्ट होती इसलिए मंत्र के साथ ऋषि का स्मरण करना पड़ता है छंद का न्यास मुख में होता है और छंद एक ढांचा है इसके आगे भी बहुत से तत्व हैं जैसे देवता तत्व है जब हम आगम में जाते हैं तो बीज तत्व है शक्ति तत्व है कीलन तत्व है इत्यादि में ये चीज विस्तृत होती है पर वैदिक वांग्मय में तीन को बल्कि चार को विशेष ध्यान दिया ऋषि तत्व छंद तत्व देवता तत्व और देवता तत्व के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व और है विनियोग तत्व हम मंत्र का विनियोग कहाँ करना चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं हमारे मंत्र का लक्ष्य क्या है यदि प्रणव हमारा मंत्र है तो लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए यदि लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हुआ तो फिर हम उसके द्वारा कैसे जो है वह प्राप्त करेंगे किसी वस्तु को इसलिए विनियोग तत्व भी वैदिक वांग्मय में बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ उसके विस्तार में अपने को नहीं जाना है कल हमने प्रथम दो मंत्रों की बात कही थी और स्पष्ट है उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव में इस बात को बैठा सकता है कि जब वस्तुतः जगत से हमारी कामना हट जाती है जब एकमात्र परमात्म तत्व के दर्शन के लिए हमारा हृदय उद्वेलित हो जाता है हमारी बुद्धि जो है उस तत्व में टिक जाती है तो उसके लिए प्रथम मंत्र कह दिया ईसा वास्य में ऐसा समझ लेने के बाद भी यदि जो है वह अभ्यास बस बाधा पड़ती है तो अभ्यास के लिए भी कह दिया तेन तेन भुंजी था और यदि ऐसे में भी अपनी निष्ठा नहीं बनती है तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और वह गड़बड़ी और कोई कुछ नहीं हो सकती है हमारी बुद्धि कहीं न कहीं जगत चित्र के साथ संबंधित हो रही है वहां पर टिक जा रही है और चित्र में यदि टिक जाए बुद्धि तो पर्दे तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई यदि चित्र में न टिके तो पर्दे में जाना सहज है पर चित्र में टिक जाने के बाद पर्दे में जाने में कठिनाई है इसलिए हमारी बुद्धि कहीं न कहीं जगत के पदार्थ को किसी न किसी रूप में पकड़ करके रखा है यही दोष है इसके निराकरण के लिए कह दिया माग्रधा अभिकांक्षा मत करो इस जगत के पदार्थ की अनात्म पदार्थ के मिथ्या पदार्थ की अभिकांक्षा मत करो क्यों इसका अस्तित्व ही नहीं है यह माग्रधा कश्य धनम जगत का धन किसी का हुआ नहीं है कितनी भी अहंता इस शरीर के साथ जोड़ लो पर यह टिक नहीं सकती है प्रतिदिन स्वप्न में हमारी अहंता दूसरे शरीर के साथ काम करने लगती है इसका मतलब इस शरीर के साथ अहंता का संबंध बहुत ही नाजुक है ऐसे ममत्व तो है जगत के पदार्थों में हम कितना भी ममत्व कर लें उसकी वासना भले ही हम ले जाएं पर पदार्थ हमारे साथ जाने वाला नहीं है इसलिए श्रुति स्पष्ट शब्दों में कह देती है मागृध धनम कस्य सिर धन किसका हुआ है यदि किसी का नहीं हुआ है तो तुम्हारा भी नहीं होगा जो तुम्हारा नहीं होना है उसमें तुम क्यों उलझ रहे हो परंतु माया शक्ति भी प्रबल है हम जानते हैं हम विचार करते हैं हम जानते हैं कि हम चेतन हैं और मैं कहते ही शरीर ही आकर के खड़ा हो जाता है आप कभी मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं जल के अंदर पुष्प रखते हैं सोचते हैं कि पहले मैं जल चढ़ाऊं फिर पुष्प चढ़ाऊं पर जहां आप जल टेढ़ा करते हैं तो पुष्प ही पहले आता है किसी प्रकार हम अभ्यास करते हैं हम चेतन हैं जड़ नहीं हो सकते हैं हम शरीर से परिच्छिन्न मालूम हो रहे हैं आज राड में प्रकाश दिख रहा है तो मालूम होता है कि प्रकाश इतनी बड़ा है डेढ़ फीट दो फीट का